नमस्कार मित्रों आज की तारीख है पांच जनवरी 2014 रविवार आज का वीडियो है वेल्थ टैक्स के ऊपर वेल्थ टैक्स का डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है मेरी किताब के चैप्टर 25 में आप मेरी बुक डाउनलोड कर सकते हैं Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F मैं फिर से रिपीट करता हूँ Rahul Mehta dot com slash three zero one dot P D F manifesto of right to recall उसमें चैप्टर 25 पे मैंने टैक्स का डिस्क्रिप्शन दिया है ये वीडियो इसके ऊपर है मतलब यदि टैक्स यानी <clears throat> जो प्रपोजल है वो दो अलग अलग है अर्बन एरिया के लिए अलग रूरल एरिया के लिए अलग रूरल एरिया में मैं बाद में जाऊंगा उससे सिर्फ जमीन के दाम कम होंगे पैसा ज्यादा नहीं आने वाला जो अर्बन है वो इंपॉर्टेंट है मतलब प्रति व्यक्ति 250 स्क्वायर फीट टैक्स एग्जाम्प्ट है उसमें तो बहुत कम टैक्स आएगा पर पर्सन 250 सीनियर सिटीजन है तो 500 स्क्वायर फीट यानी और कंस्ट्रक्शन कितना एग्जाम्प्ट होगा इससे double 500 square feet per person फिर वो कॉमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो और यदि तो यानी फैमिली ऑफ फोर है हस्बैंड वाइफ दो लड़के और साथ में सीनियर सिटीजन पेरेंट है तो 1500 स्क्वायर फीट लैंड एग्जेम्प्ट हो जाएगी और 3000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन एग्जेम्प्ट हो जाएगा और उसके बाद जो है उसमें मार्केट वैल्यू का 1 परसेंट तो मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे कि बिगनिंग में डिसाइड होगा जंतरी सर्कल रेट से जंतरी कहते हैं सर्कल रेट कहते हैं उससे डिसाइड होगा लेकिन बाद में जैसे जैसे ऑक्शन होता जाएगा गवर्नमेंट की लैंड का प्राइवेट लैंड का ऑक्शन होता जाएगा उससे रियल मार्केट रेट आ जाएगा और वो रियल मार्केट रेट है वो पूरा सर्कल पे अप्लाई होगा तो अब वेल्थ टैक्स से जो प्रपो उससे इकोनॉमी को बेनिफिट कैसे होगा कि जिनके पास मिलों की मिल खाली जमीन है जैसे बहुत सारे नेता है उन्होंने राजीव गांधी के नाम पे देवी इंदिरा अम्मा के नाम पे नेहरू के नाम पे जवाहरलाल गांधी के नाम पे मोहन भाई दुरात्मा गांधी के नाम पे अलग अलग नामों पे ट्रस्ट बना के रखे कांग्रेस ही हो सारे पार्टियों के नेताओं ने और उनके पास मिलों की मील जमीन चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में है आप गूगल करो एक कीवर्ड पे कि इंडिया चर्च एसेट तो अलग अलग आर्टिकल आएंगे कुछ आर्टिकल कहते हैं कि अर्बन एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद सबसे ज्यादा लैंड किसी के पास है तो वो चर्चों के पास है उसके बाद दूसरा नंबर वक़फ़ के पास आता है वक़फ़ यानी मस्जिद वगैरह और उसके बाद रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लैंड मंदिरों के पास है और बहुत सारे प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके पास भी मिलों की मील जमीन है तो जो खाली जमीन जिनके पास है जिनके पास खाली फ्लैट है कुछ ऐसे मिनिस्टर है जिनके पास दस दस हजार खाली फ्लैट पड़े हैं तो उनको अपने फ्लैट किराए पे देने पड़ेंगे या बेचने पड़ेंगे तो जैसे वो किराए पे देंगे या बेचेंगे उससे जमीन का दाम फ्लैट का दाम गिरेगा तो वेल्थ टैक्स का यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा कि वेल्थ टैक्स से कितना पैसा आता है अब जब वेल्थ टैक्स की मेरी जो प्रपोजल थी तो उसका क्रिटिसिज्म यह आया कि भाई वेल्थ टैक्स से ना पैसा आएगा ना जमीन के दाम कम होंगे तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि वेल टैक्स से या तो इतना पैसा आएगा कि हमें सर्विस टैक्स आधे से ज्यादा एक्साइज निकाल देंगे सर्विस टैक्स बिल्कुल निकाल देंगे वैट सेल्स टैक्स बिल्कुल निकाल देंगे और वो सारे टैक्स निकल जाएंगे या तो जमीन के दाम कम हो जाएंगे और जमीन के दाम कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स बढ़ेगा जमीन के दाम कम हो जाएंगे तो इनकम टैक्स कैसे बढ़ेगा कि हाँ कि इन जमीन के दाम कम हो जाएंगे तो जो लोग उद्योग धंधा चला रहे हैं वो अब ज्यादा उद्योग धंधे चला पाएंगे दुकान खोल पाएंगे फैक्ट्रियां खरीद पाएंगे तो उससे ऑटोमेटिकली लेबर की एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी लेबर की इनकम बढ़ेगी प्लस जो लेबर आज झोपड़पट्टी में रहता है या तो सस्ते घरों में रहता है वो रेंट दे रहा है वो रेंट भी कम हो जाएगा और रेंट कम हो जाएगा तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम परचेस मतलब उनकी परचेसिंग पावर दूसरी चीजों की बढ़ जाएगी तो इससे भी अपने आप इंडस्ट्री बढ़ेगी और इंडस्ट्री बढ़ेगी उससे इनकम टैक्स बढ़ेगा तो यहां पर यह वीडियो में मैं क्या प्रूव करूंगा कि या तो हमें दस लाख करोड़ का वेल्थ टैक्स मिलेगा या तो जमीन के दाम इतने कम हो जाएंगे मतलब अभी जितने उसके शायद 25 परसेंट हो जाएंगे और उसकी वजह से इनकम टैक्स बढ़ेगा तो एक गवर्नमेंट जो इंडिया का मैं आपको ओवरऑल इकोनॉमी का दे दू आंकड़ा आप गूगल करना union budget 2013 union budget 2013 economic survey 2013 तो ये सारे आंकड़े आपको उसमें मिलेंगे तो भारत की जीडीपी कितनी है ईयर एंडिंग मार्च 2013 अभी जो मार्च है वो तो गया नहीं है 100 लाख करोड़ तो टोटल जीडीपी है 100 लाख करोड़ की ये सारे मैंने इकोनॉमिक सर्वे में से ही डेटा लिया है और उसमें income tax total central government का टैक्स कितना और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स दोनों मिला के 20 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स में म्यूनिसिपालिटी के टैक्स आ गए सारे central tax plus state tax है 20 लाख करोड़ अब ये 20 लाख करोड़ में अलग अलग टैक्स का मैंने ब्रेकअप दिया है इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स दोनों मिला के है साढ़े पांच लाख करोड़ के आसपास इनकम टैक्स है कुछ दो लाख करोड़ कॉरपोरेशन टैक्स है कुछ साढ़े तीन लाख करोड़ दोनों मिला के सर्विस टैक्स है वो है एक लाख तीस हजार करोड़ एक्साइज है और कस्टम्स दोनों करीब करीब दो lakh crore one point nine lakh crore और अदर्स टैक्स है जैसे स्टैम्प ड्यूटी आ गया local body tax municipal tax VAT sales tax सारे स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स जो है पेरोल टैक्स वो सब मिला के आते हैं 9.3 लाख करोड़ सारे स्टेट गवर्नमेंट के सारे पूरे इंडिया के जो भी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है एक दूसरा कंपोनेंट होता है non tax income non tax income यानी क्या रॉयल्टी से जो पैसा आता है सरकार कभी कभी जमीन बेचती है तो उसका पैसा आता है फिर ये पोस्टल डिपार्टमेंट है तो उसको थोड़ी बहुत इनकम होती है जो गवर्नमेंट के पीएसयू है जैसे ओएनजीसी है एल हाँ, ये सी है जितने भी पीएसयू है तो पीएसयू जो प्रॉफिट करते हैं उसका एक हिस्सा गवर्नमेंट में जमा होता है वो सब मिला के आठ लाख करोड़ तो टोटल गवर्नमेंट की इनकम कितनी हुई टैक्स इनकम हुई बीस lakh crore non tax income हुई आठ लाख करोड़ इसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी आ गए सारे और सरकार का खर्चा इकतीस लाख करोड़ तो तीन लाख करोड़ कम पड़ता है तो वो उधार लेती है सरकार यानी नया कर्जा हर साल करीब करीब तीन लाख करोड़ आता है ये आंकड़े में थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसी आपको मिलेगी और टोटल गवर्नमेंट का खर्चा कितना है इकतीस लाख करोड़ इकतीस लाख करोड़ में से 20 लाख करोड़ टैक्स में से निकलता है 8 lakh crore non tax income में से निकलता है 3 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं और इसमें डिफेंस में कितना खर्चा होता है 2.7 लाख करोड़ करीब करीब 3 लाख करोड़ मान लो 2.7 परसेंट ऑफ जीडीपी और बाकी देशों का मिलिट्री का खर्चा मैंने रखा है कंपैरिजन के लिए चाइना का खर्चा हमसे करीब करीब तीन चार गुना दस लाख करोड़ रशिया का खर्चा हमसे डबल छह लाख करोड़ और अमेरिका का खर्चा है चालीस लाख करोड़ और अमेरिका की जीडीपी का साढ़े चार परसेंट उनकी जीडीपी ज्यादा है और उसका परसेंटेज भी ज्यादा है यानी अमरीका हमसे करीब करीब ये तीन लाख करोड़ मान ले तो पंद्रह मतलब पंद्रह गुना ज्यादा पैसा मिलिट्री पे खर्च कर रहा है चाइना हमसे तीन चार गुना ज्यादा पैसा मिलिट्री पे खर्च कर रहा है पाकिस्तान का आंकड़ा नहीं रखा पाकिस्तान का आंकड़ा आंकड़ा हमसे कम है तो इससे आपको दिखेगा कि हमें अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है इनकम बढ़ाने की क्यों जरूरत है सेना बढ़ानी है पुलिस भी कम है अमेरिका में 200 की आबादी पे एक कांस्टेबल है हमारे यहाँ 500-600 की आबादी पे एक कांस्टेबल है अदालत चाइना में 2 लाख जज है हमारे यहाँ अठारह हजार जज है उसमें से भी तीन हजार पोजिशन खाली पड़ी है चाइना में आमतौर पे केस का जजमेंट आता है दो हफ्ते तीन हफ्ते में अमेरिका में आता है डेढ़ दो महीने में भारत में तीन चार साल लग जाता है इसलिए अदालतों की संख्या जो अभी अठारह बीस हजार है वो बढ़ा के दो लाख करने की जरूरत है पुलिस की संख्या बढ़ाने की जरूरत है पुलिस के पास हथियार न के बराबर है सेना मजबूत करने की जरूरत जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना का खर्चा चार गुना है और का, काफी सालों से उनका खर्चा ज्यादा है मतलब वो हमसे डिफेंस में पिछले 20 साल से हमसे 20-30 साल से हमसे तीन चार गुना खर्चा कर रहे हैं फिर दूसरा हमारा मैथ साइंस और हथियार चलाने का एजुकेशन उसमें पैसा डालने की जरूरत है और भारत सरकार पे तीस चालीस लाख करोड़ का डेट है तीस लाख करोड़ से ज्यादा वो डेट भी चुकाने की जरूरत है इसलिए हमें इनकम बढ़ाने की जरूरत है तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वेल टैक्स से कैसा पैसा आया मैं कैलकुलेशन के साथ करूंगा ताकि यदि आप मेरे कैलकुलेशन से एग्री ना हो तो आप खुद अपने कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इसमें मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गूगल शुरू कर दो आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो साइड में गूगल चला दो और एक्सेल खोल दो और आप भी ये आंकड़े डालना शुरू करो ताकि आप इंडिपेंडेंटली आपके शहर से आपके जिले से कितना वेल्थ टैक्स आएगा उसका भी आप हिसाब लगा सको तो पहला कॉलम बनाया सिटी का तो कितने के कितने शहर है एक तो है मुंबई ग्रेटर जो कि इंडिया का सबसे महंगा इलाका है उसके बाद rest of the Mumbai Mumbai के अंदर कुछ छह सात म्यूनिसिपालिटी आती है थाने विरार नई मुंबई एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसमें से जो ग्रेटर मुंबई है सबसे महंगा है और रेस्ट ऑफ द मुंबई को मैंने अलग से रखा है उसके बाद आता है दिल्ली फिर कोलकाता सिटी और Kolkata rest of the area city के आसपास का एरिया फिर अहमदाबाद आ, और आ, फिर चेन्नई सिटी चेन्नई आसपास का एरिया बेंगलोर पुणे हैदराबाद गुड़गांव यानी ये चौदह शहर है ग्यारह शहर है उससे कितना वेल्थ टैक्स आएगा वो मैं बता रहा हूं तो उसका स्क्वायर फीट एरिया किलोमीटर में कितना है वो मैंने यहां पे डिस्क्राइब किया है 630 ये आप गूगल पे देख सकते हैं आप गूगल कीजिए Mumbai greater area Mumbai area तो सीधा ये आंकड़ा आ जाएगा 603 स्क्वायर किलोमीटर का दिल्ली है एक लाख सॉरी एक हजार चार सौ चौरासी स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर यानी 603 स्क्वायर किलोमीटर यानी रेक्टेंगल कितना हुआ इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए तो करीब करीब 25 square kilometre by 25 kilometre by 25 kilometre का एक स्क्वायर बन गया या तो 20 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर का एक रेक्टेंगल बन गया ये मुंबई है अब ये population कितनी है करोड़ में इसकी सवा करोड़ है बाकी मुंबई की 0.83 थ्री लाख है दिल्ली की 2 करोड़ 20 लाख कलकत्ता की 45 लाख कलकत्ता इनर सिटी की कलकत्ता बाहरी एरिया की 1 करोड़ अहमदाबाद की population है 62 लाख और ये चेन्नई सारे populations मैंने दिए हुए हैं अब वेल्थ टैक्स को कैसे निकाले तो एक रफ कैलकुलेशन मैं आपको देता हूं एक स्क्वायर किलोमीटर बराबर एक करोड़ स्क्वायर फीट क्योंकि जब हम रियल एस्टेट के गिनती करेंगे तो वो स्क्वायर फीट में होगी और यदि हम पूरे शहर का या कंट्री का एरिया दे रहे हैं तो वो स्क्वायर किलोमीटर में होगा जैसे भारत का एरिया कितना है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर और तो ये रफ एस्टीमेट है हाँ फिर एग्जैक्ट आंकड़ा 10.26 कुछ आता है तो एक स्क्वायर किलोमीटर बराबर एक करोड़ स्क्वायर फीट तो कितने करोड़ स्क्वायर फीट हो गया जितना स्क्वायर किलोमीटर उतना करोड़ स्क्वायर फीट हो गया आप देखिए लैंड के प्राइस में बहुत ज्यादा मतभेद होंगे मुंबई ग्रेटर में जो वार्डन रोड वाले एरिया है वहां पे स्क्वायर फीट का दाम पांच लाख जितना है कुछ कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पे स्क्वायर फीट का दाम बीस हजार रुपए से कम है तो ये मैंने एवरेज प्राइस लिए हैं मुंबई में और इसमें मतभेद हो सकते हैं मेरा जो फेसबुक कम्युनिटी है राइट टू रिकॉल पार्टी का उसमें ये स्प्रेडशीट आपको मिलेगी आप स्प्रेडशीट डाउनलोड करके उसमें आंकड़े चेंज कर सकते हैं आपको जो आंकड़े ठीक लगे वो डाल सकते हैं मैंने इस प्रकार से आंकड़े लिए हैं कि मुंबई में जो मकान का स्क्वायर फीट जमीन का दाम ये मकान का नहीं है ये दुकान का नहीं है ये जमीन का दाम है वो है पचास हजार रुपया स्क्वायर फीट और ये ग्रेटर मुंबई में मुंबई के बाहर दस हजार रुपया स्क्वायर फीट ये जो ये म्यूनिसिपाल ये थाने हैं विरार है वो सारी म्यूनिसिपालिटी में दस हजार दिल्ली में मैंने लिया बीस हजार रुपया स्क्वायर फीट कलकत्ता में लिया है पंद्रह हजार सिटी में और कलकत्ता जो बाहर का एरिया है उसमें पांच हजार सिर्फ पांच हजार अहमदाबाद में बीस हजार अब अहमदाबाद में मैं जहां पे रहता हूं वहां पे जमीन का दाम तीन लाख ये तीस हजार रुपया स्क्वायर मीटर है और बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे जमीन का दाम दस हजार रुपया स्क्वायर फीट से कम है तो ये एरिया एरिया पे डिपेंड करेगा बेंगलोर में मैंने लिया है तीस हजार रुपया स्क्वायर फीट इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो दस से मल्टीप्लाई कर दो एक एवरेज बता रहा हूं दस स्क्वायर फीट बराबर एक स्क्वायर मीटर तो ये मैंने जमीन के दाम लिए हैं ये हाईएस्ट रेट है पर मैंने इसको कैलकुलेशन में नहीं लिया ये तो सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिखे लिखा है कि बॉम्बे में ऐसे भी एरिया है जहां हमें पांच लाख में जमीन मिलती है अब टैक्स तो हमें प्राइवेट लैंड पे लेना है सारी लैंड पे तो लेना नहीं है जो गवर्नमेंट की लैंड है जैसे सड़क है तो उससे तो कोई टैक्स आएगा नहीं क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो इसमें मैंने लिखा है कि 40 परसेंट लैंड प्राइवेट है और यदि नहीं है तो किराया पे दे दो तो उससे भी इनकम आएगी मतलब या तो ये इनकम वेल टैक्स से आएगी या तो लैंड के किराए से आएगी जो मेरा एमआरसीएम का प्रपोजल है कि जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है वो किराए पे दे दी जाए और उसका टू थर्ड किराया सीधा सिटीजन के खाते में जमा होगा और वन थर्ड किराया गवर्नमेंट के खाते में जमा होगा मिलिट्री के खाते में जमा होगा तो यदि 40 परसेंट लैंड सरकार को 60 परसेंट से ज्यादा लैंड नहीं चाहिए सरकार को 40 परसेंट से ज्यादा लैंड नहीं चाहिए सरकार यानी सड़क आ गए उसमें गार्डन वगैरह आ गए पार्क आ गए गवर्नमेंट के स्कूल आ गए सरकार की सारी ऑफिसें आ गई आ, तो जितनी भी गवर्नमेंट की लैंड है वो 40 परसेंट से ज्यादा किसी सिटी में नहीं चाहिए 30 परसेंट भी बहुत हो गया फिर भी मैंने यहाँ पे लोअर एस्टीमेट लेने के लिए 40 परसेंट लैंड को प्राइवेट रखा है इसको 60 परसेंट तक ले जा सकते हैं अब मैंने लिखा है कि हर एक आदमी को 250 स्क्वायर फीट एग्जामेशन मिलेगा तो यदि एक करोड़ चौबीस लाख लोग रहते हैं और हर एक आदमी एग्जामेशन क्लेम करता है तो 310 करोड़ स्क्वायर फीट एग्जामेशन में निकल जाएंगे और ये जो एग्जामेशन 250 स्क्वायर फीट का है जो महंगे सिटी है दिल्ली है बॉम्बे है दिल्ली है वहां पे थोड़ा कम भी रख सकते हैं लेकिन अभी मैंने हर जगह 250 रखा है तो इसमें अलग अलग फिर सिनारियों निकलने शुरू होंगे क्योंकि हर एक आदमी के पास तो 250 स्क्वायर फीट है नहीं बहुत सारे लोग तो झोपड़पट्टी में रहते हैं बहुत सारे तो लोअर मिडिल क्लास एरिया में रहते हैं जिसमें मतलब मुश्किल से दो कमरों का फ्लैट होता है तीन कमरों का फ्लैट होता है और उसमें सात आठ आठ फैमिली मेंबर रहते हैं तो उसमें तो पर मेंबर है वो सिर्फ पच्चीस तीस स्क्वायर फीट लैंड ही क्लेम कर पाएगा लैंड और कंस्ट्रक्शन में फर्क होता है यदि कंस्ट्रक्शन पांच फीट का है तो लैंड उसके पास होगी ढाई स्क्वायर फीट करीब करीब बोल रहा हूं जो फ्लैट में रहने वाले बंगले में ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि एफएसआई बोलते हैं फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कितने लैंड पे कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है फ्लोर पे लैंड आम और इंडिया के अर्बन एरिया में टू है कहीं कहीं पे थ्री है इलीगली कुछ बिल्डर बना के फोर तक खींच ले जाते हैं पर नॉर्मली आपको थ्री तक मिलेगा तो हरेक और ये एग्जामेशन स्क्वायर फीट लैंड के ऊपर है तो पहले तो इतनी यदि स्क्वायर फीट लैंड होगी तो टैक्सेबल लैंड कितनी हो गई 52 स्क्वायर फीट मतलब 362 प्राइवेट लैंड है 362 करोड़ स्क्वायर फीट उसमें से 310 हो गई ये एग्जामेशन तो 52 टैक्सेबल आएगी उस पर वन परसेंट टैक्स रेट लगा यानी टैक्स रेट हो गया कितना पचास हजार का वन परसेंट यानी पांच सौ रुपया पांच सौ रुपया स्क्वायर फीट टैक्स आएगा और 100 परसेंट पॉपुलेशन यदि एग्जामेशन क्लेम करती है तो बॉम्बे में से टैक्स आएगा 25,900 करोड़ यानी कुछ 26,000 करोड़ रुपया और बॉम्बे में 50 परसेंट पॉपुलेशन तो स्लम में रहती है वो तो कोई एग्जेपन क्लेम करने नहीं वाली तो हम कहे कि यदि 50 और जो लोअर मिडिल क्लास है यदि हम कहे कि 50 परसेंट लोग एग्जेम्पन क्लेम करेंगे तो एक लाख तीस तीन हजार करोड़ इनकम होगी और यदि कहे कि सिर्फ 25 परसेंट लोग ही पूरा एग्जेपन क्लेम कर पाएंगे सब मिला के मतलब जितनी आ, आ, एक एक हम कहें कि एवरेज मुंबई के आदमी के पास जिसके पास 250 से कम लैंड है उसका एवरेज निकालो तो उसका एवरेज होता है मान लो 75 स्क्वायर फीट तो 25 परसेंट टोटल एग्जामेशन का 25 परसेंट ही क्लेम हो जाएगा तो बॉम्बे में से वेल टैक्स आएगा एक लाख चालीस हजार करोड़ से ऊपर तो ये 50 परसेंट का आंकड़ा हम एवरेज मान के चले क्योंकि देखो किसी भी शहर में 50 परसेंट पॉपुलेशन तो स्लम में रहती है बाकी 30-40 परसेंट लोअर मिडिल क्लास है जिसमें उनके पास आ, आ, दो बेडरूम के फ्लैट में दो बेडरूम हॉल किचन टाइप के फ्लैट में पांच सात लोग रहते हैं तो दो बेडरूम फ्लैट हॉल किचन का एरिया हो गया हजार स्क्वायर फीट उसका लैंड हो गया सौ स्क्वायर फीट और वो सात आदमियों में डिवाइड हो रहा है तो पर पर्सन जनरेशन सौ फीट तो क्या नब्बे फीट भी नहीं हुआ अस्सी फीट भी नहीं हुआ तो एक मेरा जो एस्टिमेट है वो कि पचास परसेंट लोग ही मतलब जितना एग्जामेशन अलाउ कर रहे हैं उसके 50 परसेंट ही क्लेम होगा तो बॉम्बे ग्रेटर में से एक लाख तीन हजार करोड़ टैक्स आएगा बाकी मुंबई में से चौबीस हजार करोड़ जितना टैक्स आएगा अलग अलग सिटी का मैंने एस्टिमेट दिया है और ये सिर्फ 11 सिटी का आंकड़ा आ रहा है सात लाख सात लाख साठ हजार करोड़ करीब करीब सात लाख पैंसठ हजार करोड़ अब बाकी इंडिया से कितना आएगा और ये पूरा देखो ये आप कितना हुआ पूरा 11 सिटी का मैंने एरिया एडअप कर दिया उसके आसपास का जो एरिया है तो आ, 9 lakh square feet sorry 9000 square kilometre और इंडिया का एरिया है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी पूरे इंडिया का 0.2 परसेंट से कम हो रहा है मेरा एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि पूरे इंडिया का 1.2 परसेंट हिस्सा पूरे हर एक आदमी को 250 स्क्वायर फीट की जमीन और 500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन एरिया देने के लिए काफी है पूरे इंडिया का एक डेढ़ परसेंट एरिया मतलब लैंड का जो प्राइस है वो सिर्फ होर्डिंग की वजह से बढ़ा है और वेल टैक्स है वो होर्डिंग तोड़ देगा तो बाकी पूरे इंडिया का एस्टीमेट ऑफ रफ लगा लो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की पॉपुलेशन है 120 करोड़ 120 करोड़ में से 40 करोड़ शहर में लेती है रहती है 80 करोड़ रूरल एरिया में रहती है तो ये जो 11 शहर मैंने बताया उनका टोटल हो रहा है करीब करीब 10 करोड़ यानी 30 करोड़ पॉपुलेशन रहती है सत्ताईस हजार स्क्वायर किलोमीटर वही पॉपुलेशन डेंसिटी मान लो वैसे थोड़ी ज्यादा होगी पर वही के वही मान लो तो सत्ताईस हजार स्क्वायर किलोमीटर और उसमें लैंड का दाम मैंने लिया है पांच हजार रुपया स्क्वायर फीट यानी पचास हजार रुपया स्क्वायर यार्ड सॉरी पचास हजार रुपया स्क्वायर मीटर और उसमें प्राइवेट लैंड हो गई 40 परसेंट और ये सब आंकड़े मिला के सिटी में से आएगा यदि 50 परसेंट एक्सेम्पन ले ले तो और 11 जो शहर है और जितने भी भारत में शहर है उसमें से करीब करीब आएगा तीन लाख पचास हजार करोड़ यानी इन दोनों को ऐड करो तो वेल टैक्स आएगा दस लाख करोड़ सॉरी ग्यारह लाख ग्यारह लाख करोड़ के आसपास ग्यारह साढ़ा लाख साढ़े ग्यारह लाख करोड़ यानी असम्पशन क्या मैंने लिए ये मैंने मार्केट रेट लिए अलग अलग सिटी के और इनके सिवा जितने सिटी है उसमें मैंने एरिया ले लिया पांच हजार रुपया स्क्वायर फीट तो इससे यदि मान के चलो कि जमीन के दाम एक रुपया भी कम नहीं होंगे तो फिर इतना टैक्स आएगा सात लाख करोड़ प्लस तीन लाख करोड़ करीब करीब दस लाख करोड़ ग्यारह करोड़ लाख जितना टैक्स आएगा तो उससे पूरा सर्विस टैक्स खत्म कर सकते हैं एक्साइज खत्म कर सकते हैं अरे एक्साइज आधे से ज्यादा एक्साइज पेट्रोल पे रहेगा मैं अलग से बताऊंगा पेट्रोल के दाम कम नहीं हो सकते सत्तर का साठ हो सकता है सत्तर का तीस किसी हिसाब से नहीं हो सकता यदि सत्तर का दाम मान लो अभी पेट्रोल सत्तर रुपए लीटर आ, आ, आ, चल रहा है अप्रोक्सीमेटली उसका यदि 30 लीटर हो गया तो पेट्रोल का कंजम्पशन डबल हो जाएगा पेट्रोल का कंजम्पशन डबल हो गया तो पेट्रोल तो हमारे यहाँ 25 परसेंट ही बनता है बाकी 75 परसेंट इम्पोर्ट होता है तो इंपोर्ट यदि डबल हो जाएगा पेट्रोल का तो रुपए के दाम गिर जाएंगे अभी जो एक डॉलर सत्तर रुपए का है वो सीधा एक रुपए का हो जाएगा तो अपने आप पेट्रोल का दाम फिर से तीस रुपए से बढ़ के साठ सत्तर रुपए हो जाएगा यानी जो साठ रुपए सत्तर रुपए का पेट्रोल है वो शायद साठ का हो जाए पचपन का हो जाए बहुत ज्यादा मतलब साठ से कम होने की संभावना नहीं है इसलिए पेट्रोल पे जो एक्साइज है वो रखनी पड़ेगी कस्टम ड्यूटी है वो भी रखनी पड़ेगी मेटल्स पे कम कस्टम ड्यूटी तो बढ़ाने का प्रपोजल है मेटल्स पे कम करनी चाहिए देखो कोई यदि सोना ला रहा है तो वो तो देश का फायदा कर रहा है उससे देश के उद्योगों को नुकसान नहीं हो रहा यदि मैं बाहर की बनाई हुई चीज ला रहा हूं तो उससे देश को नुकसान हो रहा है लेकिन सोना ला रहा है चांदी ला रहा है तो देश की प्रॉपर्टी बढ़ रही है देश की संपन्नता बढ़ रही है तो मेटल पे कस्टम ड्यूटी खत्म करने का प्रपोजल है पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो जो चीज हमें यहाँ पे बनानी है उस पर कस्टम ड्यूटी जो अभी 30-40 परसेंट है वो बढ़ा के 200-300 परसेंट करने का प्रपोजल है और बाकी जो सेल्स टैक्स है लोकल बॉडी टैक्स है स्टैम्प ड्यूटी है वो सारे खत्म कर सकते हैं इसमें से साढ़े ये जो साढ़े लाख करोड़ है उसमें से प्रॉपर्टी टैक्स के सिवा आधा हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स है बाकी सेल्स टैक्स और लोकल बॉडी टैक्स है वो सारा टैक्स हम खत्म कर सकते हैं सर्विस टैक्स हम खत्म कर सकते हैं कैसे क्योंकि टैक्स है वो 11 लाख करोड़ वेल्थ टैक्स आएगा मतलब अब देखिए वेल्थ टैक्स से 11 लाख करोड़ नहीं आएगा जब ये प्रपोजल आएगी क्यों क्योंकि जैसे ये प्रपोजल आएगी जितने भी चैरिटेबल ट्रस्ट है जिन्होंने मिलों की मिल जमीन दबा के रखी है जितने भी ये भ्रष्ट नेता है भ्रष्ट न्यायाधीशों के वकील है उनके रिश्तेदार वकील है सॉरी भ्रष्ट न्यायाधीश मतलब न्यायाधीशों के रिश्तेदार वकील है जिनके पास हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में खाली फ्लैट पड़े हैं आ, ये जितने गांधी और नेहरू के नाम पे ट्रस्ट है जिनके पास अकेले दिल्ली में पचास हजार करोड़ से ज्यादा की जमीन है तो वो उनको जमीन बेचनी पड़ेगी किराए पे देनी पड़ेगी तो उससे इनकम बढ़ेगी लोगों की मतलब किराया कम होगा किराया कम होगा तो एक दुकानदार जिसने आज एक दुकान खोल के रखी है वो दो दुकान खोलेगा तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी उससे रिटेल का दाम कम होगा रिटेल का दाम कैसे कम होगा कि मान लो कोई आदमी गांव से गेहूं लाके गोडाउन में रख रहा है तो उसको गोडाउन का किराया देना पड़ता है जब गोडाउन का किराया कम हो जाएगा तो उसका मार्जिन है वो कम हो जाएगा यदि वो अपना मार्जिन कम नहीं करता तो कोई दूसरा आदमी गोडाउन खोल के कम दाम में माल रखना शुरू कर देगा रिटेल का मार्जिन भी कम होगा क्योंकि रिटेल का जो मार्जिन होता है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है दुकान का रेंट दुकान का रेंट कम हो गया तो रिटेलर का मार्जिन भी कम हो जाएगा तो इससे लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इफेक्टिवली क्या होगा कि ये जो इनकम टैक्स साढ़े पांच लाख करोड़ का है ये इनकम टैक्स बढ़ के दस ग्यारह लाख करोड़ हो जाएगा और वेल्थ टैक्स आएगा जो मेरी मान्यता है उसके हिसाब से वेल्थ टैक्स आएगा कुछ दो लाख करोड़ यानी दस लाख करोड़ है वो कुछ इनकम टैक्स में चला जाएगा और कुछ वेल्थ टैक्स में चला जाएगा दोनों मिला के गवर्नमेंट को दस लाख करोड़ का एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा तो ये पैसा आ कैसे रहा है हम्म? वो उसके मैं और डिटेल बताऊंगा कि डबल टैक्स नहीं आ रहा मतलब कि यदि आपको रेंट की इनकम हो रही है तो रेंट की इनकम का 30 परसेंट भरना है या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू का 1 परसेंट भरना है दोनों में से जो ज्यादा है वो भरना है दोनों नहीं भरना है अलग-अलग मैंने इसमें मेथड्स बताए जिससे कि डबल टैक्सेशन नहीं होगा यानी किसी आदमी ने जमीन खाली रखी है तो उसको टैक्स आएगा पर किसी आदमी ने मकान किराया पर दिया है तो उसको इफेक्टिवली इतना ज्यादा टैक्स नहीं आएगा क्योंकि जो किराए से वो इनकम टैक्स भर रहा है उसमें वेल्थ टैक्स पूरा सेट ऑफ हो जाएगा तो वही पैसा आ कहां से रहा है क्योंकि इससे जीडीपी बढ़ रही है जीडीपी कैसे बढ़ गई क्योंकि इनफिशियंसी कम हो गई देखो जो इकोनॉमिक पैरामीटर है उसको मैन्युपुलेट करने से कुछ हाथ में नहीं आता हाथ में कब आता है जब वो इकोनॉमिक पैरामीटर ग्राउंड लेवल पे किसी एक आदमी की एफिशिएंसी बढ़ाए यदि आप सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हो और जीडीपी नहीं बढ़ रही तो तो सरकार को फायदा हुआ सिटीजन को घाटा हो गया फायदा कब है कि जब टैक्स भी बढ़े और जो प्राइवेट आदमी की जीडीपी भी बढ़े और आफ्टर टैक्स उसकी इनकम बढ़े ये ये तीनों चीजें जब हो तभी सोसाइटी का फायदा है और वो तीनों चीज इसमें कैसे हो रही है हवा में से पैसा नहीं आ रहा एफिशियंसी कम हो गई उसकी वजह से पैसा आ गया एफिशियंसी कैसे कम हो गई कि आज बहुत सारी लैंड जो खाली पड़ी है खाली पड़ी है उसके लो, इसके लिए वजह से लोगों को दूर-दूर घर पे जाना पड़ता है वो घर पे दूर गए तो उसकी वजह से उनका कॉम्यूट टाइम बढ़ गया उनका फ्यूल का खर्चा बढ़ गया कि जैसे आज अहमदाबाद की मैं बात करूं तो सैटेलाइट एरिया में 50 परसेंट जमीन खाली पड़ी है सैटेलाइट में 50 परसेंट जमीन खाली पड़ी है इसलिए लोगों को बोपल एक दूसरा एरिया आगे एस जी हाईवे के बाद आता है वहां पे जाना पड़ा लेकिन यदि सैटेलाइट में जमीन की होर्डिंग नहीं हो रही होती तो लोगों को भोपाल तक नहीं जाना पड़ता अब जो आदमी भोपाल में रहता है उसको रो, उसका रोज 20 मिनट स्कूटर में वेस्ट हो जाता है और रोज उसका 25 रुपया दस पंद्रह बीस रुपया पच्चीस रुपया पेट्रोल में वेस्ट होता है तो जब लैंड का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन शुरू होगा तो लोगों का टाइम बचेगा कॉम्यूट टाइम बचेगा और लोगों का कॉम्यूट का खर्चा बचेगा और रेंट कम होगा तो उससे मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी रियल एस्टेट में उसकी लिक्विडिटी बढ़ेगी लोग आसानी से फ्लैट खरीद पाएंगे बेच पाएंगे तो इससे वेल्थ टैक्स से जीडीपी बढ़ रही है, इनफिशियंसी कम हो रही है और इनफिशियंसी कम होने से जीडीपी बढ़ रही है और जीडीपी बढ़ने से इनकम टैक्स बढ़ रहा है। इस तरह से ये पूरा साइकिल मेंटेन हो रहा है। अब जो दूसरा टॉपिक है मैं उस पर आऊंगा कि और कौन-कौन से तरीके हैं कि जिसके द्वारा हम इनकम बढ़ा सकते हैं। गवर्नमेंट इनकम बढ़ा सकते हैं, टोटल गवर्नमेंट इनकम। एक तो मैंने आपको वेल्थ टैक्स बढ़ाया कि फिर दूसरे जो टैक्स इनफिशियंसी बढ़ा रहे हैं वो खत्म करने हैं जैसे सर्विस टैक्स खत्म करना है स्टैम्प ड्यूटी खत्म करनी है लोकल बॉडी टैक्स खत्म करना चाहिए म्यूनिसिपालिटी में वाटर चार्ज रहता है वो रहना चाहिए ये म्यूनिसि ये सेल्स टैक्स है वैट वो खत्म कर देना चाहिए क्योंकि उसमें हम्म? आ, आ, पानी का मीटर लगना चाहिए तो पानी का मीटर लगेगा तो ऑटोमेटिकली पानी का वेस्टेज कम होगा और ये आ, आ, पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डालनी है उसमें भी सहूलियत होगी तो इस तरह से ये टैक्स रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो गई अब इनकम बढ़ाने के और क्या-क्या तरीके हैं कि जिससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़े सोसाइटी की भी आफ्टर टैक्स इनकम कम ना हो सोसाइटी की भी आफ्टर टैक्स इनकम बढ़े और इस तरह से सोसाइटी को नेट बेनिफिट हो तो पहले मैं आपको बताऊं कि भाई इनकम बढ़ाने की जरूरत क्या है क्यों गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि एक तो सेना पे पैसा खर्च करना है पुलिस पे खर्चा बढ़ाना है कोर्ट पे खर्चा बढ़ाना है मैथ साइंस एजुकेशन पे खर्चा बढ़ाना है लोगों को हथियार चलाने का एजुकेशन देना है अमेरिका में एडल्ट मेल पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं 18 से लेके 60-55 जो भी आप आंकड़ा मान लो उनमें से 80 परसेंट नाइन्टी परसेंट लोगों को बंदूक चलाना आता है अमेरिका में 70-80 परसेंट लोगों के पास बंदूक का लाइसेंस है या उन्होंने बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली है इंडिया में पुलिस और मिलिट्री छोड़ के शायद दो परसेंट सिविलियनों ने कभी बंदूक हाथ में नहीं उठाई होगी तो हमारी स्थिति बहुत खराब है वेपन एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और दूसरा मैंने बताया कि भारत सरकार के ऊपर राज्य सरकारों को सब मिला के तीस लाख करोड़ का डेट है शायद ज्यादा वो डेट भी आज नहीं तो कल नहीं तो परसों किसी न किसी को तो चुकाना है तो बेहतर है मैं आज से ही चुकाना शुरू करें तो और क्या क्या तरीके हैं कि लैंड रेंट जो भी सरकार के पास खाली जमीन है वो किराए पे दे दो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी है जो बेकार में खाली लैंड रखते हैं जैसे अहमदाबाद का आईआईएम है सौ एकड़ की जमीन उन्होंने दबे दबा के रखी है कितने एमबीए मैन्युफैक्चर करते हैं साल में 200 मैक्सिमम तो 200 एमबीए का उत्पादन करने के लिए क्या सौ एकड़ जमीन चाहिए वो पूरी जमीन वेस्ट करके रखे बड़ी बड़ी लॉन बना के रखे हैं बड़े टेनिस ग्राउंड बना के रखे हर एक प्रोफेसर को बंगले दे रहे हैं भाई चार बेडरूम का फ्लैट बहुत हो गया कोई बंगले देने की जरूरत नहीं तो जब लैंड का किराया देने की बात आएगी आयम को कहा जाएगा कि भाई तुम्हारे जमीन की कीमत कम से कम बीस हजार करोड़ रुपया है और साल का 200 करोड़ किराया दो तो अपने आप वो 100 करोड़ का एकड़ है उसमें से 60 आ, मतलब यूं समझो कि 60-70 करोड़ जमीन 60-70 एकड़ जमीन है वो गवर्नमेंट को लौटा देंगे और 30 एकड़ में उनका काम बहुत अच्छी तरह चलेगा तो लैंड रेंट जब वसूला जाएगा पीएसयू से प्राइवेट कंपनियों से मतलब गवर्नमेंट लैंड पे देखो ये लैंड रेंट में गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड पे रेंट लेने की कोई बात नहीं है उस पर सिर्फ एक परसेंट टैक्स ही आ रहा है तो उससे टू थर्ड इनकम सिटीजन को जाएगी वन थर्ड गवर्नमेंट को जाएगी फिर मिनरल्स मिनरल्स में कैसी धांधली हो रही है वो तो हमने देखा टू स्पेक्ट्रम है फिर ये कोल की कुछ पच्चीस लाख करोड़ का कोयला की खाने हैं जो कि फोकट के दाम दे दी तो मिनरल्स की रॉयल्टी से पैसा आ सकता है ये मैंने चैप्टर फाइव में दिखा एमआरसीएम से कैसे इनकम बढ़ सकती है उसके बाद सरकारी खर्चे कम करने वो मेरा अगला वीडियो आएगा उसमें हमें डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट देखना होगा कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट का खर्चा हम कम कर सकते हैं जैसे कि टूरिज्म मिनिस्टर तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है जितनी भी होटल वगैरह है वो अपना एक एसोसिएशन बना ले उनका इलेक्शन हो और उसके द्वारा वो मैनेज करे गवर्नमेंट को एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है एक आईएएस आईपीएस रखने की जरूरत नहीं है दूसरा ये जो एटीजी एग्जामेशन है जो ट्रस्टों को दे रखा है ए सी है ट्रस्टों को दे रखा है एसईजेड को जो टैक्स छूट दे रखी है वो सारी टैक्स छूट हम कैंसिल कर सकते हैं और अलग अलग तरह के एग्जामेशन दे रखे जैसे कि कोई आदमी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है तो उसको टैक्स एग्जामेशन दे रहा है कोई जरूरत नहीं उसको टैक्स एग्जामेशन देने की इंफ्रास्ट्रक्चर का दाम भले पाँच दस परसेंट बढ़ जाए तो उससे कोई पार नहीं टूटने वाला इसमें टैक्स इवेशन बहुत होता है जब भी टैक्स रेट अभी कोई कहे कि भाई मेरे लेफ्ट जेब में इनकम होगी तो टैक्स दस परसेंट लगेगा और राइट जेब में इनकम होगी तो टैक्स 30 परसेंट लगेगा तो होगा क्या मैं सारे अपने राइट जेब की इनकम लेफ्ट जेब में डाल दूंगा तो इस तरह से ये जितनी भी कंपनियां हैं बड़े उद्योग गुरु है उन्होंने क्या किया एक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की खोल के रखी है एक कंपनी रूटीन बिजनेस की रूटीन बिजनेस में जितनी इनकम होती है किसी ना किसी तरह से वो डाइवर्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर की इनकम दिखा देते हैं और ये जो भी जिस जिस आइटम पे टैक्स एक्सेंशन है उसके एक्सपेंस में दिखा देते हैं इनकम में दिखा देते हैं और उसकी वजह से टैक्स लॉस हो रहा है तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट हो यदि पैसा ज़्यादा आ गया तो हर एक पे टैक्स रेट कम कर दो तो इस तरह से अलग-अलग जो exemption दे रखे हैं वो एग्जेम्पन खत्म करके हम इनकम बढ़ा सकते हैं तो मेरा पॉइंट क्या था कि वेल्थ टैक्स से लोअर मिडिल क्लास पे यहां तक कि मिडिल क्लास पे और लोअर क्लास पे जीरो परसेंट बर्डन आ रहा है अधिकतर बर्डन जो आ रहा है वो जिन्होंने लैंड होर्डिंग करके रखी उस पर आ रहा है ये लैंड मैंने सिर्फ बताया लैंड पे इसके बाद कंस्ट्रक्शन का भी प्रपोजल है कंस्ट्रक्शन पे 500 स्क्वायर फीट एग्जामेशन मिलेगा उसके बाद जितना कंस्ट्रक्शन है पर कंस्ट्रक्शन पे रिलेटिवली कम है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से है कि कितनी वैल्यू है कंस्ट्रक्शन की और उसकी कंस्ट्रक्शन की वैल्यू का करीब करीब वन परसेंट और उसमें डिप्रिशिएशन भी आएगा एक जो दूसरी प्रपोजल है वो एग्रीकल्चरल लैंड पे जो वेल टैक्स है वो किस तरह से है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर फैमिली मेंबर दो एकड़ एग्जेम्प्ट होगा और सीनियर सिटीजन के लिए चार एकड़ एग्जाम्प्ट हो गया यानी किसी के फैमिली में पांच मेंबर है आठ मेंबर है तो उसको तीस एकड़ तक कोई टैक्स नहीं आएगा पंद्रह एकड़ बीस एकड़ तक कोई टैक्स नहीं आएगा और उसके बाद पर एकड़ जो मार्केट वैल्यू इसका वन परसेंट और मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है कि वहां पे कितनी फसल आती है मान लो साल में सिर्फ एक फसल आती है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम होती है ऐसे लैंड की मार्केट वैल्यू होती है एक लाख रुपया एकड़ लेकिन वहां पे साल में मान लो तीन फसल आती है आसपास सिंचाई की फैसिलिटी है तो वहां पे लैंड की वैल्यू एकड़ की तीन लाख चार लाख तक होती है क्योंकि वहां तीन बार फसल उगती है तो वो एक पूरा गवर्नमेंट में ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म है कि कैसे लैंड एग्रीकल्चर लैंड की वैल्यू डिसाइड होती है तो जो भी लैंड की वैल्यू डिसाइड होती है उसका वन परसेंट तो उससे बेनिफिट क्या होगी कि बहुत सारे लोगों के पास ढाई सौ तीन सौ पांच सौ एकड़ जमीन है ट्रस्टों के नाम पर जमीन है उससे टैक्स आने शुरू होंगे और वो जमीन पर वो लोग खेती नहीं करे उन्होंने सिर्फ होर्डिंग करके रखी है तो अब जब साल के 5000 10000 टैक्स आना शुरू होगा तो या तो जमीन किसी को किराया पे देंगे खेती करने के लिए तो कम से कम खेती का उत्पादन बढ़ेगा और उससे टैक्स की इनकम भी बढ़ेगी और इससे अपने आप एक slow low profile land distribution भी शुरू हो जाएगा कि जिसके पास इतनी सारी लैंड है कि वो खुद मैनेज ही नहीं कर रहा वो अपने आप लैंड छोटे किसानों को बेचना शुरू करेगा तो इससे एग्रीकल्चरल लैंड की प्राइस कम होगी और एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ेगी ये पर इससे जीडीपी पे मेजर असर कैसे हो रहा है कि उससे एग्रीकल्चर की इनकम बढ़ रही है उससे ये जो वेल्टेक्स है लैंड है उससे कोई मेजर गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी पर उससे लैंड प्राइस कम होगी लैंड प्राइस कम होगी तो और जो लैंड का खाली जमीन पड़ी रहती है खेती की जमीन है लेकिन खाली पड़ी रहती है वो कम हो जाएगी तो ये सारे मेरे टैक्स के प्रपोजल थे वेल टैक्स चैप्टर 25 में डिस्क्राइब किया है और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया क्योंकि आजकल ट्रांजैक्शन टैक्स का थोड़ा ज़्यादा बोलबाला है वो एकदम फ्रॉड प्रपोजल है मेरे दो वीडियो है कि ट्रांजैक्शन टैक्स क्यों बकवास प्रपोजल है और वो बकवास ज़्यादा आगे ना बढ़े तो अच्छा है क्योंकि वो बकवास आगे बढ़ा तो लोग जो जो समझदार लोग है जो समझते हैं कि भाई ट्रांजेक्शन टैक्स बकवास है वो लोग फिर बीजेपी से मुकर के आम आदमी पार्टी में चले जाएंगे कि भाई बीजेपी यदि इस तरह के बकवास करती है तो इससे आम आदमी पार्टी क्या बुरी है इसलिए मैंने वेल टैक्स का प्रपोजल रखा है कि कंट्री में टैक्स सुधारने की जरूरत है टैक्स स्ट्रक्चर सुधारने की जरूरत है टैक्स इनकम बढ़ाने की जरूरत है तो ideal solution is wealth tax दूसरा प्रपोजल है इनहेरिटेंस टैक्स का वो मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके पास 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है और रियल एस्टेट में उसमें कम रेट लगेगा तो उसकी प्रॉपर्टी का 30 परसेंट इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा यानी 10 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं है उसके बाद 30 परसेंट अब ये सारे प्रपोजल का जैसे कि आप समझते हैं कि बीजेपी कांग्रेस और अरविंद भाई तीनों ने इसका विरोध किया कि वेल टैक्स नहीं होना चाहिए आप खुद उनको फोन करके पूछ सकते हो ये अरविंद भाई के भक्त हो बार बार मुझसे सबूत मांगते हैं और मैं कहता हूं भाई हाथ कंगन और आशी क्या खुद फोन करके पूछ लो मेरे पास जो मोबाइल है उससे मैं बात करता हूँ उसी मोबाइल से आप बात कर सकते हो आपके पास भी मोबाइल है तो अरविंद भाई से पूछ लो वो वेल्टेक्स का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके जो मीडिया का खर्चा जिंदाल ने दिया है दिल्ली का और ऑल ओवर इंडिया का मल्टीनेशनल कंपनियों दिया है और मल्टीनेशनल कंपनियों का प्लान है कि मिलों की मिल उनको जमीन खरीदनी है तो अब जब मल्टीनेशनल कंपनियों पे भी इस तरह से एक परसेंट आएगा और दूसरा मेरा प्रपोजल कि फॉरेनर्स पे डबल टैक्स आएगा या डेढ़ गुना आएगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों को नुकसान होगा तो रॉकोफेलर रॉसचाइल्ड जिन्होंने पैसा दिया है पूरा अरविंद भाई का मीडिया फंडिंग चलाने के लिए वो वो सीधा अरविंद भाई को पैसा नहीं दे रहा अरविंद भाई ले भी नहीं रहे इस मामले में अरविंद भाई 100 परसेंट ईमानदार है उनको कोई पैसे देने आता है रॉकोफेलर रॉसचाइल्ड तो वो सीधा उसको मीडिया का सरनामा पकड़ा देते हैं एड्रेस दे देते हैं कि यहाँ पे जाके पैसा दे दो तो पर उनको इतना पता है कि ये प्रपोजल रॉस्टाइल रॉकोफेलर को अच्छी नहीं लगेगी, जिंदाल को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, जिनके पास मिलों की मिल जमीन है, 10,000, 15,000, 50,000 खाली फ्लैट है उनपे, 0.1 परसेंट भी वेल टैक्स नहीं आना चाहिए यहां तक। इससे मेरा एक रिलेटेड प्रपोजल है, थोड़ा दूसरा प्रपोजल है, कि जितने भी इंडिया में लैंड ओनरशिप का रिकॉर्ड है, वो नेट पे डाल दो। कि राहुल मेहता के नाम पे जमीन कितनी है, वो भी नेट पे डाल दो। अरविंद भाई के नाम पे कितनी है, वो भी डाल दो। मेरे पास एक ट्रस्ट है, मैं अभी बोल देता हूँ उस ट्रस्ट के पास 1200 स्क्वायर फीट की ऑफिस है होगी कुछ 600 स्क्वायर फीट या 400 स्क्वायर फीट लैंड होगी मतलब उस सोसाइटी को प्रो रेटेड डिवाइड करेंगे तो और अरविंद भाई के ट्रस्ट है सिसोदिया के ट्रस्ट है सोनिया गांधी के ट्रस्ट के पास कहते हैं अकेले दिल्ली में पचास हजार करोड़ की जमीन है अकेले दिल्ली में बाकी इंडिया में कितनी होगी जान लो तो सबका जिसके पास जितनी लैंड ओनरशिप है एक एक स्क्वायर मीटर की लैंड ओनरशिप का रिकॉर्ड डिजिटाइज करके नेट पे डाल दो ताकि आप देख सको नक्शे में जाके आपने क्लिक किया प्लॉट आ गया एक दूसरा क्लिक किया दूसरा प्लॉट आ गया प्लॉट को डबल क्लिक किया तो सामने ओनर के नाम आ गए ओनर यदि ट्रस्ट है तो ट्रस्टियों के नाम आ गए किसी ट्रस्टी पे क्लिक किया तो कंप्यूटर को 10-15 मिनट लगेंगे पर वो पूरा इंडिया में उसके कितने ट्रस्ट है पूरे इंडिया में उसकी कितनी कंपनियां हैं पूरे उस कितनी जमीन है सारा डेटा आपको ला रख देगा उस जमीन की मार्केट वैल्यू नहीं तो कम से कम सर्कल रेट ला रख देगा पूरा डेटा एक या दो सीडी में आ जाएगा पूरे इंडिया का कच्चा चिट्ठा एक या दो सीडी डीवीडी में आ जाएगा और उसके द्वारा आप एक एक भारत के शरद पवार के पास कितनी जमीन है सोनिया गांधी के पास कितनी जमीन है अडवाणी के पास कितनी जमीन है सब डेटा दो डीवीडी में आ जाएगा तो इससे आपको अंदाज आ जाएगा क्यों कांग्रेस ये वेल टैक्स का विरोध कर रही है क्यों बीजेपी ये वेल टैक्स का विरोध कर रही है और अरविंद भाई इस वेल टैक्स का क्यों विरोध कर रहे हैं और अन्ना ने भी विरोध कर दिया अन्ना ने भी साफ साफ कहा कि इस तरह का कोई वेल टैक्स को वो वो नहीं होना चाहिए उन्होंने अपने वॉलेंटियर को बोल दिया कि ये वेलटेक्स के जितने भी मैंने पेम्पलेट बांटे थे वो सब उन्होंने फाड़ के फिकवा दिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ट्रांजेक्शन टैक्स जैसी बकवास प्रपोजल को सपोर्ट करना है या आपको वेल टैक्स को सपोर्ट करना है धन्यवाद